नव मंत्र पूरा नहीं हुआ था हम्म। अविकल्पैत्रेति ये चलेगा बुद्धिर्मनिटुत्यचित मनस हम्म। मनस संकल्पादिरूप से इष्टे नियंत्रित नहीं मनीट बुद्धि संकल्पादिरूप है मन उसका नियामक रूप से उसको शासन करने वाली बुद्धि है तया तो मनीषा बुद्धि बुद्धि के द्वारा हृदय मनीषा अविकल्पयित्रिया अविकल्पित्रिया का अर्थ कहते टीका में विषय कल्पना शून्यया बुद्धि का विशेषण है विषय कल्पना शून्य या बुद्धि तया बुद्धि में विषय कल्पना होती है विषयाकार वृत्ति है विषयाकार होने से बुद्धि में अशुद्धि होती है मिथ्या विषय को विषय करने वाले उससे विषय कल्पना शून्य जो बुद्धि है विषय कल्पना शून्य होने से बिल्कुल वृत्ति नहीं हुई नहीं ब्रह्मास्मिति अविषयतया एव ब्रह्म भाव व्यंजिकया महावाक्योथया बुद्धिवृत्त्या ज्ञातुं शक्यते इति संबंध ब्रह्मास्मिति अविषयतया ब्रह्म को विषयत्व नहीं अहम अस्मि विषय तो भिन्न है ज्ञेय ज्ञाता से भिन्न है अहम अस्मि इसी प्रकार अविषयतया एव विषयत्व नहीं विषय रूप से नहीं विषय तो मिथ्या है विषय होता है ज्ञेय ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य भाष्य इसको कहते चिद भाष्य चेतन के द्वारा प्रकाशित तो होता है तो विषय होता है ब्रह्म स्वयं चेतन है वो चेतन के द्वारा प्रकाश्य नहीं ये तो सारे सब को प्रकाश करने वाला जो स्वयं प्रकाशक है वो प्रकाश्य नहीं होता है जो दृक है वो दृश्य नहीं होता है और जो दृश्य होगा वो दृक भी नहीं है सारे पदार्थ दृश्य है ब्रह्म है चिन्ह मात्र दृक इसलिए ब्रह्म का जो ज्ञान होगा दृश्यत्वेन विषयत्वेन नहीं होगा विषय तो चिदभाष्यत्व जड़ में रहेगा इसलिए ब्रह्म का जब ज्ञान होता है ब्रह्मास्मि इति इस प्रकार हम अस्मि ब्रह्म अभिषेत या अविषयत्व नहीं भान होता है जो अविषयत्व ने ज्ञान होता है ज्ञान क्या चीज है ज्ञान पदार्थ क्या है ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्मास्मिति ज्ञान ब्रह्मास्मिति शब्द हुआ तो ज्ञान क्या पदार्थ अविषयता या ज्ञान क्या है ज्ञान है बुद्धिवृत्ति जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान भी घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान पटाकार वृत्ति को पट ज्ञान कहते हैं नित्य ज्ञान तो ब्रह्म ही है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म तो ना उसकी उत्पत्ति है ना नाश है उसका कोई विषय भी नहीं है ब्रह्म ज्ञान स्वयं ज्ञान रूपे वो विषय कुछ का कोई नहीं किम विषय का ज्ञान घट ज्ञान का विषय घट पट ज्ञान का विषय पट किंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो ब्रह्म रूप ज्ञान है वो किसी विषय का नहीं है तो ब्रह्म अस्मि ये तो शब्द हुआ वो ज्ञान क्या पदार्थ है जो ज्ञान नित्य ज्ञान है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म वो नित्य है उत्पत्ति नाश रहित है वह ज्ञान अज्ञान का निवर्तक भी नहीं है वो तो अज्ञान का आश्रय है ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्म ब्रह्म रूप जो ज्ञान है वो अज्ञान का आश्रय है अज्ञान का प्रकाशक है भाषक है नाशक नहीं निवर्तक नहीं अज्ञान का निवर्तक ज्ञान उत्पन्न होता है महावाक्य से जिस प्रकार घट ज्ञान पट ज्ञान कहते हैं घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहते हैं घट के साथ इंद्र का संबंध होता है सन्निकर्ष तब अंतकर्ण इंद्रिय के द्वारा घट देश में जाकर के व्याप्त हो जाता है अंतकर्ण का जो परिणाम होता है उसको वृत्ति कहते हैं बर्तन में जल है तो उसमें पानी जाकर गिरता है ग्लास कटोरी आदि में भर जाता है तदाकार हो जाता है इसी प्रकार अंतकरण जाकर के घट देश में पट देश में व्याप्त होकर के तदाकार हो गया उसको कहते वृत्ति घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति कहते हैं अंतकर्ण स्वच्छ है उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है इसलिए चिदाभास विशिष्ट अंतकण बुद्धि को ही जीव कहते हैं और अंतकण जब बाहर जाता है वही प्रमाता है अंतकण विशिष्ट चेतन प्रमाता है उसमें चिदाभास रहन से चेतन जैसे लगता है जब अंतकण बाहर जाता है उसका परिणाम वृत्ति वो भी स्वच्छ होने से उसमें भी चिदाभास होता है चैतन्य का प्रतिबिंब होता है जड़ है अंतकण चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त होने से वो चैतन्य जैसे लगता है अंतकण जल जिस प्रकार पर प्रकाश का नहीं है किंतु सूर्य आदि का जब उसमें प्रतिबिंब होता है जल प्रकाश दिखता है आंख से देने नहीं देख पाए सूर्य प्रतिबिंब होता तो एकदम चकमक हो जाता है दर्पण इसे स्वयं प्रकाश रूप नहीं किंतु प्रतिबिंब दर्पण दर सूर्य किरण का प्रतिम्ब होता है तो दर्पण का प्रकाश दीवाल आदि में आ जाता है अन्य को प्रकाश कर लेता है ठीक इसी प्रकार वृत्ति जड़ है किंतु चेतन के प्रतिम्ब चिदाभास के संबंध होने से वो प्रकाश रूप दिखते इसलिए उसको ज्ञान कह देते हैं और ज्ञान घट को प्रकाश करता है जब वृत्ति में चेता चिदाभास उत्पन्न हुआ चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति आरूढ़ चैतन्य इसको ज्ञान शब्द से कहते हैं चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को घट ज्ञान कहते हैं घटाकार वृत्ति है उसमें चिदाभास रहा तो चिदाभास विशिष्ट घटाकार वृत्ति घट ज्ञान है वृत्ति और चिदाभास दोनों मिल करके केवल जड़ परिणाम को नहीं केवल चैतन्य को नहीं तो दोनों प्रकार कह सकते वृत्ति को विशेष करेंगे तो चिदाभास विशिष्ट वृत्ति कहेंगे ज्ञान है अब वृत्ति को विशेषण विशेषण करेंगे तो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य चैतन्य विशेष हो जाएगा चैतन्य वृत्ति में आरूढ़ कैसे होता है जिस प्रकार जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है कहते जल में चंद्र है प्रविष्ट है दर्पण में मुख स्थित है दर्पण में मुख स्थित नहीं केवल दिखता है इसी प्रकार जो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है तो कहते चैतन्य वृत्ति में आरूढ़ हो गया कहीं कहीं कहते वृत्ति अभिव्यक्त हुआ चैतन्य सर्वत्र होने पर भी अभिव्यक्त नहीं होता है वृत्ति के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है तो वृत्ति उसकी अभिव्यंजिका है तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति आरूढ़ चैतन्य ऐसा भी कहते हैं ज्ञान शब्द का अर्थ घट ज्ञान पट ज्ञान भी वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ऐसे कहते हैं अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति भी कह सकते हैं शास्त्र में से कहा जाता है वृत्ति युद्ध बोध बोधेद्धा वृत्ति वृत्ति से इद्ध इंधि दीप्त वृत्ति अभिव्यक्त बोध का चेतन वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य उसको कहेंगे संक्षेप से वृत्ति इद्ध बोध वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य विशेष क्या होगा बोध और जब कहेंगे बोधेद्धा वृत्ति बोधेद्धा बोध से इंध दीप्तो प्रकाशित बोध विशिष्ट वृत्ति बोध से इद्ध प्रकाशित हो जाती वृत्ति जड़ बोधेद्धा वृत्ति कहेंगे तो वृत्ति विशेष है और बोध विशेषण हो गया विशेष विशेषण भेद करके शब्द प्रयोग किया जाता है तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य भी घट ज्ञान है अथवा चिदाभास विशिष्ट घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहते हैं केवल घट ज्ञान ही जितने ज्ञान है सब इस प्रकार है विषयाकार वृत्ति होगी वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते हैं जिस प्रकार घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान सब अंतकरण वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य हुआ अथवा चिदाभास विष्ट वृत्ति हुई इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्माकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्माकार वृत्ति यहाँ घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम है इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति होती है वेदांत वाक्य प्रमाण से से आदि वाक्य सुनने पर अधिकारी को ज्ञान होते अहम अस्मि ब्रह्म ये निश्चय वृत्ति है जैसे सामने पुष्प है देखने पर ये पुष्प ज्ञान हो जाता है पुष्पाकार वृत्ति वृत्ति हमको नहीं दिखती है कि हमको निश्चय होता है पुष्प ज्ञान वो जो पुष्प ज्ञान को आप जानते हैं वो पुष्पाकार वृत्ति को आप प्रकाश करते हैं पुष्पाकार वृत्ति है पुष्प ज्ञान पुष्प को देखते ही पुष्पाकार वृत्ति घटक देश से घटाकार वृत्ति होती है और निश्चय और सामने पुष्प रख करके कहेंगे घट हो बोलो अयम घट बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते पुष्प सामने रखकर बोलो अयम घट बोलो नहीं बोल सकते बोलेंगे तो दांत टूट जाएगी हैं बोलो अयम घट बोलो क्या बिगड़ गया <laughs> कोई कोई नहीं बोलते हैं <laughs> कि पहले मना किया था ना <laughs> बोल सकते आयम घट बोल सकते हो हाथी बोल सकते हो आयम अयम मस्ती बोल सकते हो कोई मना कर दे डर जाते हाथी कैसे कहेंगे हाथी कहेंगे तो कहीं पास में आ जाएगा दौड़ करके बोलने पर भी घटाकार वृत्ति नहीं हस्त्याकार वृत्ति इसको नहीं कहेंगे शब्द से कह देंगे हे हाँ, हाथी है ये व्याघ्र है बच्चे को सिखाए तो क्या है बड़े भी कहेंगे दूसरे को ऐसे ठगने के लिए भी कह देते हैं किंतु उसको वृत्ति नहीं कहते क्योंकि ऐसा निश्चय नहीं है इसको कहते आहार्य ज्ञान जान बुझ करके आपको मालूम है नहीं हाथी नहीं है घटा नहीं है तो भी कह देते हैं तो किंतु निश्चयात्मक वृत्ति है ब्रह्म में हूँ ऐसे निश्चय वृत्ति हो तो ब्रह्माकार वृत्ति निश्चय नहीं शब्द से ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म वो तो सरल है कह दें सब कहते ही वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है निश्चय होना चाहिए निश्चय हो तो स्वयं जानता निश्चय नीम खिलाओ बोलो बहुत मीठा लगता है बहुत मीठा लगता है मीठा लगे ना नहीं कौड़ा लग गया वो मिठाकार मधुराकार वृत्ति नहीं हुई और यदि गुड़ अकेला यदि कोई नहीं बताएगा तो मीठा लगेगा नहीं बताने पर भी लगेगा तो मधुराकार वृत्ति हुई इसी प्रकार ब्रह्म में निश्चय ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम वो वृत्ति है ज्ञान उसमें चिदाभास उदय होता है चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथवा ब्रह्माकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है वो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान उसी ज्ञान से ब्रह्म अज्ञान आवरण नष्ट हो जाता है अज्ञान नष्ट हो गया तो ब्रह्म स्वयं प्रकाश प्रकाश हो गया ब्रह्म ज्ञान हो गया किंतु ब्रह्मा ज्ञान होता है प्रमा उत्पत्ति होती है प्रमा प्रमाण से घट ज्ञान जैसे हुआ चक्षु रूप प्रमाण से मधुरा ज्ञान किस प्रमाण से होगा रसनेन्द्र से ये रसनेन्द्र प्रमाण है क्या है प्रमाण का क्या किसको प्रमाण कहते हैं प्रमाकरणम प्रमा क्या है यथार्थ अनुभव मधुर का यथार्थ अनुभव हुआ उसका कर्ण है रसन इंद्रिय प्रमाकरणम प्रमाणम जैसे घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान हुआ प्रमाण से उत्पन्न हुआ घटाकार वृत्ति घट ज्ञान उत्पन्न होता है इसी प्रकार महावाक्य से ही उत्पन्न होता है ब्रह्म ज्ञान तत्वमस्यादि महावाक्य से महावाक्य प्रमाण है इसे प्रमाण से उत्पन्न होता है शब्द प्रमाण से उत्पन्न होता है ब्रह्म ज्ञान शब्द प्रमाण से परोक्ष ज्ञान होता है जरूर किंतु नियम नहीं कि शब्द प्रमाण से परोक्ष ज्ञान ही होगा तत्वमस्य वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है जिस प्रकार दशम स्तमसी तुम दशम हो सुन करके दशम व्यक्ति ज्ञान होता मैं दशम हूँ वो परोक्ष नहीं अपरोक्ष है स्वयं देवदत्त किसी व्यक्ति को देखते हैं पहले देखा था संशय होता है वह है या नहीं है दूसरे व्यक्ति कहता हाँ वही है कोई छोटा बच्चा था दस साल के बाद देखा बड़ा हो गया तो कहता कौन ये है वही है हाँ पिता माता कहते हैं हाँ वही है कहने पर स्वयं ज्ञान हुआ तो शब्द से तो हुआ ज्ञान किंतु अपरोक्ष होता है परोक्ष नहीं इसी प्रकार से वाक्य से जो ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान होता है वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है तो जो ज्ञान होता है ब्रह्मास्मि इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति वो ब्रह्म विषय नहीं होता है अविषयत्वेन ब्रह्म भाव व्यंजिकया ब्रह्म भाव को अभिव्यक्ति करने वाला वृत्ति ही व्यंजिका हृदय मनीषा मनीषा का अर्थ क्या अभिकल्पित्रिया तो हो गया ब्रह्म भाव व्यंजिकया ब्रह्म भाव से व्यंजिका वृत्ति है अभिव्यक्ति करने वाली वृत्ति है तया तो ब्रह्म भाव ब्रह्मत्व जीव में ब्रह्मत्व वास्तव ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म अभिन्नत्व है ब्रह्म अभिन्नत्व को अभिव्यक्त करने वाली वृत्ति है अहम अस्मि ब्रह्म इसे ब्रह्माकार वृत्ति है वो कैसे उत्पन्न होगी महावाक्योत्थया महावाक्यात उत्तिष्ठति थे महावाक्यात वाक्योत्था महावाक्य से उत्पन्न होती है तत्व से आदि महावाक्य से महावाक्योत्थया वृत्तिया बुद्धिवृत्तिया है यही ज्ञान है बुद्धिवृत्तिया बुद्धि का परिणाम ब्रह्माकार तो उसके द्वारा बुद्धिवृत्तिया ज्ञातुम थे ब्रह्म का ज्ञान वही ब्रह्म ज्ञान वो ब्रह्म को प्रकाश नहीं करता है ज्ञान वृत्ति ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकती है यद्यपि घटाकार वृत्ति से घट का प्रकाश होता है पटाकार वृत्ति से पट का प्रकाश होता है क्योंकि घटपट जड़ है जब घटाकार वृत्ति से घट का प्रकाश होता है वहाँ वृत्ति से चिदाभास विशिष्ट वृत्ति से घट के अज्ञान का नाश होता है और घट जड़ होने के कारण वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से प्रकाश होता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को फल कहते हैं चिदाभास है घटकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम और वृत्ति चिदाभास विशिष्ट होने से अज्ञान का आवरण की निवृत्ति कर देती है किंतु घट को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति में जो चिदाभास वो घट को प्रकाश करता है इसलिए घट में वृत्ति का संबंध होने से वृत्ति व्याप्ति है और वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल का संबंध है घट को प्रकाश करता है फल जन्य अतिशय घट में आता है इसलिए फल व्याप्ति भी है घट ज्ञान होता है तो वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान की निवृत्ति फल व्याप्ति उनसे घट का प्रकाश होता है इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास होता है तब वृत्ति जड़ होने पर भी अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति भी जड़ है अंतकरण का परिणाम है तो भी अज्ञान अनादि अज्ञान की निवृत्ति कर देती ब्रह्माकार वृत्ति वृत्ति में चिदाभास के संबंध होने से ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब अज्ञान निवृत्ति होने के बाद वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य तो है फल है किंतु तजन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं होता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश है घट में तो हो जाता है घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय घट में तो हो जाएगा पट में हो जाएगा किंतु ब्रह्म में नहीं होता है ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्माकार वृत्ति होगी वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य होगा किंतु तजन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं होता है दर्पण को दिखाएंगे तो सूर्य किरण दर्पण में प्रतिबिंबित होकर के दीवाल में दिखता है आंख में दिखता है किंतु उसी को सूर्य को दिखाएंगे तो दर्पण प्रतिम जा करके सूर्य में कुछ अतिशय कर देगा ये नहीं करेगा इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति होती है वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में अज्ञान निवृत्ति के लिए किंतु ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के कारण अतिशय ब्रह्म में नहीं आता है तो फल व्याप्ति का अभाव है तो बुद्धि वृत्तिया ज्ञातुम शक्यते कहा तो बुद्धि वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती इतने मात्र है वेदांत प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान को ज्ञान ब्रह्म को प्रकाश नहीं करता है आवरण को हटा देगा बुद्धिवृत्तिया ज्ञातुम शक्यते इसे कहा जाता है ज्ञान होता मतलब अज्ञान आवरण हट गया हट गया तो ज्ञान हो गया कहा गया स्वयं प्रकाश ब्रह्म है तो आवरण हट जाने से वो प्रकाशमान हो गया बुद्धिवृत्तिया ज्ञातुम शक्यते जो बुद्धिवृत्ति है उसमें विषय कल्पना शून्य विषय कल्पना नहीं जितने जितने विषय कल्पना है विषयाकार है ये सब को हटाने पर वही योग वृत्ति निरोध अन्य वृत्ति को हटाना किंतु ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए ध्यान जो निधि ध्यास ने है ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अन्य वृत्ति हट जाए बिल्कुल वृत्ति नहीं रहे ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं रहे वो लयावस्था है उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं कुछ नहीं होता है ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव होना चाहिए उससे ही अज्ञान की निवृत्ति होती है इसलिए तेन प्रकाश ज्ञातुम शक्यते कथम भूत आत्मा इत्यतः मनसा विकल्प्त आत्मा कैसा है मनसा विकल्प्त मनसा विकल्प्त मंत्र में मनसा मनसा का तो मनन रूपेण सम्यक दर्शन है ना मनन मन से मनन होता है मनन है निश्चय ज्ञान सम्यक दर्शन युक्त्या संभावित तत्वानुसंधानम मननम ऐसे मनन करके तर्क से विचार करना पड़ता है कैसे है मनन टीका में दिया यद यन मया दृश्यते बाह्यम घटादि तत्तद अहम यथा न भवामी जो जो मेरे द्वारा दिखा जाते हैं घटादि घटपटादि हम आप देखते हो क्या दिखेगा जो जो दिखता है उनमें से क्या आप आप घटे या पटे तन अहम न भवामी यत यत मया दृश्यते बाह्यम यद यद मया दृश्यते घटादि तद अहम न भवामी मैं नहीं हूँ मेरे द्वारा दिखा जाता है पदार्थ मेरे से भिन्न है मैं नहीं हूँ इसी प्रकार यथा न भवामी तथा अस्मिन भी संघाते इसी देह कार्यकरण संघात में देह इंद्रियादि समुदाय है इसमें भी यद यद दृश्यम तत्तदम न भवामी <coughs> दृश्य का अर्थ तो ज्ञेय जो दिखता है केवल आंख से दिखता है आप नहीं है घट आदि कि आंख से नहीं दिखता है कि तो मधुर खटा आदि अनुभव होता है खाएंगे तो पता चलता है वो आप मधुर है या खटा है दृश्य का तो ज्ञेय जो ज्ञेय वो आपसे भिन्न है जैसे घटा आदि आपसे भिन्न मधुर आदि शब्द स्पर्श रूप रस सब आपसे भिन्न है इसी प्रकार देह कार्यकरण संघात में जो जो ज्ञेय है जिस जिसको आप जानते हो तत्द हम न भवामी ये युक्ति है ये विचार करना ही मनन करना है जिस जिसको मैं जानता हूँ मैं नहीं हूँ मेरे से भिन्न है तो उसी से अपने देह में इंद्रिया में जिस जीव को हम जानते हैं मैं नहीं हूँ शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ये सब मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मैं नहीं हूँ ऐसे करके सब का निषेध करने पर फिर क्या मैं हूँ देह को मैं जानता हूँ देह नहीं हूँ चक्षुरा इंद्रिय को जानता हूँ मैं नहीं हूँ प्राण आपका है या नहीं आपको मालूम है तो आप प्राण गेय हो गया आप प्राण नहीं है मन बुद्धि आपके है है मन सबका बुद्धि है आप जानते हो इसे मन बुद्धि आप नहीं है अज्ञान किस विषय का अज्ञान है आपको ब्रह्म का अज्ञान है अज्ञान है तो अज्ञान को भी जानते हो अज्ञानी व्यापन नहीं हो पांच कोश है अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनंदमय इसमें कितने कोश को आप जानते हो सबको दिखता तो नहीं किंतु जानते हैं तो जानते मतलब पांच कोश में आप कौन सा कोश है क्यों ज्ञेय होने का अपने से भिन्न है फिर सब जो जानते सब कुछ छोड़ दिया तो फिर अब क्या रहा तो सब छोड़ दिया जो ज्ञेय पदार्थ मैं नहीं हूँ तो फिर और क्या रहा किंतु यो अत्र ज्ञो जो जानने वाला जानने वाला आपसे भिन्न है या नहीं भिन्न है आप स्वयं जानते हो जो जानने वाला आप हो वो ज्ञ से सुअस्मि जो जानने वाला मैं हूँ जो जानने वाला है चेतन वो एक है सब शरीर में अनेक नहीं है जिस प्रकार आकाश सब शरीर में एक है इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु जो ज्ञेय ज्ञो से चेतन से सर्व शरीरेषु एक लक्षण लक्षितत्वाद एक एव सब शरीर में एक लक्षण से लक्षित एक ही चिद रूप है वही अस्ति सत सत सत रूप से सर्वत्र अनुगत सर्वत्र वही एक सद्रूप चिद रूप है यदि विचारेण ये विचार मनन है प्रथम संभावित इति पहले मनन करके संभावित तो होगा उसके बाद साक्षात्कार होता है श्रवण पहले किया तात्पर्य निर्णय हुआ अद्वितीय वेदांत अद्वितीय ब्रह्म में वेदांत का तात्पर्य उसके बाद कैसे संभव है मैं चिन्ह मात्र ब्रह्म कैसे हूँ तो ये विचार करना पड़ेगा जिस जिसको मैं जानता हूँ वो मेरे से भिन्न है ऐसे करके सब को जानने वाला से मैं भिन्न हूँ जो भिन्न है वो ज्ञ चिद्रूप ज्ञ और इस प्रकार जिसको हम जानते हो मिथ्या है स्वप्न प्रपंच में प्रातिभाषिक पदार्थ मिथ्या है निश्चित है यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र मिथ्यात्वम जो ज्ञेय पदार्थ सपने में उसमें मिथ्या कोई है सब मिथ्या है जो ज्ञेय पदार्थ मिथ्या है तो निश्चय हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान जितने ज्ञेय सब मिथ्या है जागृत काल में भी ज्ञेय पदार्थ मिथ्या है जो सुसुप्ति में अज्ञान है सुश्रुति अवस्था वो भी मिथ्या है तीनों अवस्था ज्ञेय है तीनों अवस्था को हम जानने वाले जानने वाला चेतन है तीनों अवस्था से विलक्षण तीनों सर से विलक्षण अवस्था त्रय साखी पंचकोश अतीत एक चिद रूप आत्मा ऐसे बार-बार विचार मनन करने पर तभी कभी ब्रह्माकार भूति निश्चय हो जाएगी ये विचार नहीं करके मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म रटने से नहीं होगा ये संभावित होने पर मनसा सम्यक दर्शनेन अभिक्लिप्त भाष्य में अभिक्लिप्त का तो अभी समर्थित अभी प्रकाशित है तो मन से ही वृत्ति होने से प्रकाशित होता है श्रवण क्या मनन क्या संभव हुआ तो ब्रह्माकार वृत्ति से प्रकाशित होता है आत्मा ज्ञातुम शक्यते इति वाक्य शेष मनसा अभिविकल्पित ऐसे आत्मा ज्ञातुम शक्यते ऐसे जाना जा सकता आत्मा भाष्य में ये ये मंत्र में इसे जोड़ करके अर्थ करना आत्मा ज्ञातम शक्यते हृदय मनीषा मनसा विकल्पतो आत्मा ज्ञातम शक्यते ऐसे आत्मा जाना जा सकता है तम आत्मा ब्रह्म एतद ये विदुर अमृतास्ते भवन्ति एतद विदु य एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति आगे मंत्र है एतद का आत्मा को ये विदु तम आत्मा ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है एतद ये विधु जो जानते साक्षात्कार कर लेते ते अमृताभवंती अमृत हो जाते हैं आत्मा में तो जन्म मरण है ही नहीं देहादि के साथ तादात्म्य एकत्व अध्यास करके अपने में जन्म मरण आरोप करता था अनादिकाल से जीव जो जान लेता है अहम ब्रह्म तो मुक्त हो गया टीका में श्रुत वेदांतानामपि केशांचित ब्रह्मास्मिति बुद्धिस्तरीय तरिया दर्शनाद अस्ति किंचित प्रतिबंधकांतरम तद अपनयो उपायो अन्य वक्तव्य इत अभिवृत्या श्रुत वेदांता नामपि श्रुत वेदांत यही श्रुता वेदांत यही ते श्रुत वेदांता बहुदिन तक वेदांत श्रवण कर लिया केशांचित ब्रह्मास्मिति बुद्धि स्तरीय आदर्शनाथ ब्रह्म अस्मि इति बुद्धि बुद्धे स्थैर्यम स्थैर्य सदर्शनाद कभी थोड़ी बुद्धि किसकी हो जाती है बहुत श्रवण करने के बाद सबके नहीं होती रट लेते हम अस्मि ब्रह्म किंतु बुद्धि ऐसे नहीं शब्द में कहना और बुद्धि इसमें भेद है शब्द में जैसे बताया पुष्प को सामने रख करके अयम हस्ति अयम हस्ति शब्द से कहता है ये बुद्धि निश्चय नहीं है शब्द से कहना अलग और बुद्धि होना बुद्धि होने से शब्द से नहीं कहने पर भी ज्ञान जो होता है कोई जो बोलना पड़ता है इससे जरूरी नहीं है शब्द तो प्रयोग कर दूसरे को बताने के लिए अपने बैठे तो देखा कुछ दिखता है ज्ञान हुआ मच्छर काटा तो बोलना पड़ता है बोलने पर ही कष्ट होगा नहीं तो कष्ट नहीं होगा ऐसा है कुछ नहीं खाने पर मीठा लगा बिना बोले मीठा का अनुभव होगा दब दूसरे सामने है उसको बताने के लिए कहते हैं बहुत बढ़िया और अपने खा करके पागल से भी न कौन बोलता रहेगा कहता कहता रहेगा अपने आप बोलता रहेगा कुछ नहीं कहता कोई दिमाग खराब है तो बोलता रहता है कभी कभी कोई कोई चलते हैं कुछ कुछ बोलते बोलते चलते हैं हंसते भी है बोलते भी कुछ करते हैं और दिमाग खराब होने से होता है बुद्धि अलग है शब्द से कहना अलग है बुद्धि है तो ब्रह्मास्मि इति बुद्धि वेदांत श्रवण करने के बाद भी ऐसे बुद्धि होती नहीं है बहुत की कभी बुद्धि किसकी हो भी जाए श्रवण मनन दीर्घ काल करते समय कभी इसे लग जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ वो सोच करके जबरदस्ती परिश्रम करके नहीं विचार करते करते जैसे तर्क बताया ये देह आदि को गेह पदार्थ में नहीं हूँ जिसको मैं जानता हूँ मेरे से भिन्न है ऐसे सब का निराकरण करेंगे तो अंत में रह जाएगा जो जानने वाला दीर्घ रूप चेतन में हूँ जो जाना नहीं जाता है जो सबको प्रकाश करता है जो ज्ञेय नहीं होता है ज्ञेय दृग रूप चेतन में हूँ ऐसा कभी वृत्ति तो हो जाती है किस किस की अधिकारी में किंतु वृत्ति की स्थिरता नहीं होती बुद्धि स्तरीया दर्शनाथ स्थिर नहीं होती है फिर अभ्यास करना पड़ता है तब आवृत्ति रसकृत उपदेशाद श्रवण मनन निधि ध्यान आवृत्ति करनी पड़ती है फिर श्रवण मनन कर मनन करते करते बुद्धि वृत्ति हो जाती है जो अधिकारी जिज्ञासु साधक है श्रवण काल में भी कभी बुद्धिवृत्ति हो जाती है ये जो श्रवण होता है श्रवण मनन दोनों साथ साथ और जो अप्रमत्त होकर के श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं तो उनको कभी श्रवण मनन काल में निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति भी हो जाती है इसलिए उसके लिए प्रस, प्र, पहले से श्रद्धापूर्वक ठीक ठीक बैठ करके चिंतन करें एकाग्र होकर के तो श्रवण करते समय भी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है और पहले यदि आलस्य प्रमाद होकर बैठा है कोई विषय का चिंतन करता रहता है तो परमात्मा भी आकर के लज्जित होकर भाग जाएंगे दर्शन देने के आएंगे तो क्या करेंगे भैया तो कुछ दूसरे सोच रहा है पहले से यदि अपने निश्चित होकर के सब विषय चिंतन छोड़ करके कुछ बाह्य विषय चिंतन छोड़ कर बैठा श्रवण क्या एकाग्र होकर के तो श्रवण मनन करते करते ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है उसके लिए थोड़ा एकाग्र होकर के श्रवण करे श्रवण करते करते विचार करे मन में कोई कुछ रखा हुआ तो उसको रटते नहीं कभी मन में रखा उसको रटा उसने ऐसा कहा आज इस समय तो उसको कहूँगा ये संकल्प विकल्प करते रहे मन से सोचते रहे ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा तो श्रवण क्या होगा श्रवण साक्षात शिव जी बैठे कर सुनाएंगे तो भी कुछ लाभ नहीं होगा नहीं सुनने वाले का क्या लाभ होगा यदि विषय कहीं चिंतन करता है कुछ नहीं होगा सब छोड़ करके बैठना श्रवण काल में सब छोड़ करके जो कुछ मन में कहीं कुछ है सब छोड़ करके श्रद्धा से श्रवण करे श्रवण मनन काल में ही निधि ध्यान हो जाता है तो भी ब्रह्माकार वृत्ति थोड़ी हो जाए कभी तो उसको जानता है तो फिर आगे प्रयास करता है उसकी फिर रुचि होती है जो लोग मनन नहीं कर पाते श्रवण ही पूरा नहीं कर पाते ब्रह्माकार वृत्ति नहीं जानते वो उनको लगता है असंभव है ये क्या है हम तो परिचय नहीं ब्रह्म हम कैसा होंगे तो जो साधक है उनको बुद्धि तो हो जाती है स्तर्यादसनाद स्थिरता नहीं दिखती अभ्यास करना पड़ता है तो नहीं क्यों होता है स्थिरता क्यों नहीं होती अस्ति किंचित प्रतिबंधक अंतरम कोई प्रतिबंधक है और ज्ञान रूप तो प्रतिबंधक है ब्रह्म ज्ञान नहीं होता आवरण है और दूसरे कोई प्रतिबंधक है बाह्य पदार्थ दिखता है तो तद अपने उपायोपि अन्य वक्तव्य प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए उपाय भी बनना चाहिए इत अभिप्रेत्य सा सा ह्रीन मनिट कथम प्राप्यते इति तदर्थो योग उच्यते जो हृदय हृदय मनिट बुद्धि जिस बुद्धि से ब्रह्म प्रकाशित तो होता ब्रह्म ज्ञान होता है जो बुद्धि एकाग्र बुद्धि है विकल्प विषय विकल्प रहित तो बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान होता है वो बुद्धि कैसे प्राप्त होती है ऐसे बुद्धि क्यों नहीं होती है श्रवण करते बहुत तो भी से बुद्धि नहीं होती तो सा मनिट बुद्धि कथम प्राप्यते ऐसे मनीषा मनिट बुद्धि की प्राप्ति कैसे होती इति प्रश्न होने पर तदर्थो योग उचित उसके लिए योग कहते हैं कैसे योग अनुष्ठान करना योग शब्द सुनते आसन प्राणायाम इसे नहीं समझना आसन प्राणायाम करना ठीक है किंतु योग शब्द से केवल नहीं ज्ञान है योग युज्यते अनैति योग जिससे एक हो जाता है अज्ञान की निवृत्ति होता तो एक हो जाता एक होने का ये गुण गौण प्रयोग उपचार एक होना ने एक है ही घटाकाश महाकाश अलग अलग भेद करते घट नष्ट हो गया तो घटाकाश महाकाश में के साथ एक हो गया एक हो जाएगा ना नहीं होगा पहले अलग था क्या तो फिर एक कैसे होगा अलग था तो एक होगा पहले अलग नहीं था पहले ही भी एक था तो घट तोड़ने के बाद एक होगा बिना रहेगा भिन्न रहेगा तो पहले से भी अभिन्न था बाद में अभिन्न किंतु प्रयोग किया जाता है कहा जाता है घट नष्ट हो गया तो घटाकाश महाकाश एक हो गया जैसे कि पहला अलग था पहला अलग नहीं था किंतु ज्ञान इसी प्रकार है जो ज्ञान होता है तो एक हो जाता है युज्यते अनन ज्ञान से भेद भ्रम नष्ट हो गया तो योग ज्ञान है तो योग कहते हैं टीका में श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेया संभावना निराशेपि चित्तस्य अनेकाग्रता दोष प्रतिबंधक संभवति तदपनयनाय योग अनुष्ठातव्य उपदिश्यते इत्यर्थ ये प्रतिबंधक बताया था अभी अभी आया किंचित प्रतिबंधकांतरम अस्ति कोई प्रतिबंधक अन्य ज्ञान होने में प्रतिबंधक क्या है संशय एक प्रतिबंधक संशय क्या असंभावना असंभावना क्या है श्रुति वाक्यते है तत्वमसी महावाक्य नेह नानाति किंचन सर्वम ब्रह्म बहुत वाक्यते है किंतु सारे प्रपंच से दिखता है कि नेह नानाति ये कैसे संभव होगा नहीं कैसे सब दिखता है नहीं नहीं कैसे तो सोते ही सर्वम ब्रह्म ब्रह्म नाम रूप रहित है चक्षुर्ग्राह्य नहीं सारे पदार्थ नाम रूप वाले चक्षुर्ग्राह्य ये सब ब्रह्म कैसे होंगे ब्रह्म है तो नहीं दिखना चाहिए अब ब्रह्म एक है पदार्थ तो नाना दिखते ब्रह्म क्या नाना है क्या अनेक पदार्थ दिखते ये कैसे ब्रह्म होंगे सर्वम ब्रह्म कहेंगे तो कितने ब्रह्म हो जाएंगे एक अद्वितीय ब्रह्म कहते कहते सर्वम ब्रह्म सर्वता बहुत प्रकार है संभव कैसे सर्वम ब्रह्म से तुम ब्रह्म हो ये कैसे होगा मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म जगत को बनाने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और हमको कुछ मालूम नहीं अंदर क्या है मालूम नहीं पीछे कौन है मालूम नहीं आगे क्या होगा पता नहीं कुछ शक्ति सामर्थ्य नहीं तो हम क्या सर्व परमेश्वर परमात्मा से कि असंभावना और श्रुति में भी प्रमाण में असंभावना क्या है प्रमाण में कहीं क्या योजित स्वर्ग काम कहीं क्या द्वास उपना जीव ईश्वर भिन्न भिन्न है कहीं कर्म करने के लिए कहा गया कहीं संध्या वंदन करने के लिए कहा जब तक तो जीवित रहे संध्या वंदन करते रहे तो ये वेद का सिद्धांत वस्तुतः एक अद्वितीय ब्रह्म इसमें वेद प्रमाण है या कर्म करने के लिए मीमांसक लोग बड़े कर्म कांड है ब्रह्म सूत्र में कितना अध्याय है चार अध्याय है उसको तो पढ़ना कठिन होता है कोई कोई चार अध्याय में एक अध्याय भी नहीं चार सूत्र कोई भी नहीं पढ़ते हैं कहीं कहीं चार सूत्र पढ़ाएंगे सारे ब्रह्म सूत्र में और अधिक नहीं कहीं चार सूत्र क्या एक भी सूत्र नहीं पढ़ते नहीं पढ़े तो सारा जीवन भर एक सूत्र भी नहीं हम कभी सूत्र को याद कोई कर लिया अर्थात तो ब्रह्म जी के यहाँ बहुत तो मालूम है किंतु क्या हुआ आगे पता नहीं ऐसे ब्रह्म सूत्र चार अध्याय किंतु मीमांसा में बारह अध्याय है उसके बाद शंकर स्वर्ण कांड देवता कांड और चार अध्याय है बहुत बड़े शास्त्र और कर्म करने के लिए मीमांसक लोग कहते सब कर्म करने से सब होगा ज्ञान ब्रह्म कुछ नहीं है कर्म ही करना चाहिए तो बड़े कर्म कांड बड़ा है अस्सी हजार में तो कर्म कांड बहुत है तो ज्ञान में कोई कोई कहते वेदांत प्रमाण ही नहीं है कर्म करने के लिए हमना ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थकम अतदर्थानाम तस्माद नित्यम वेद तो कर्म करने के लिए कर्म नहीं करेंगे तुम ब्रह्म हो तो क्या मिलेगा कहते उसे बोध ज्ञान होता ही नहीं है शब्द से जो अर्थ ज्ञान होगा क्रियान्वित अर्थ का ज्ञान होता है कर्म से अन्वित होगा तो ठीक है घटम आने घटम नय जलम आने कहें तो शब्द बोध होगा और घटो अस्थि घटो अस्थि तो हो हमको क्या मिलेगा कहते उसे ज्ञान नहीं होता है मीमांसा को लोग बड़े विचार कर कहते हैं सिद्ध वस्तु का ज्ञान नहीं होता है इसे कहते हैं शक्ति ज्ञान होता है इसे बहुत कहते तो प्रमाण में असंभावना होती है अब प्रमेय में असंभावना है कैसे एक हो सकता है अद्वितीय ब्रह्म सर्वज्ञ में कैसे हूँ ये दोनों की निवृत्ति श्रवण मनन से होती है वे दे दिया प्रमाण प्रमेय असंभावना निराशे भी श्रवण मननाभ्याम प्रमाण असंभावना और प्रमेय असंभावना प्रमाण शास्त्र प्रमेय है प्रमा का विषय जीव ब्रह्म की एकता ब्रह्म अद्वितीय है ये प्रमेय ब्रह्म अद्वितीय मतलब ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं और वही जीव है ब्रह्म से भिन्न जीव जड़ चेतन कुछ अलग है ही नहीं वही जीव है एक अद्वितीय ब्रह्म है प्रमेय में ब्रह्म हूं और अद्वितीय ब्रह्म जगत सारे जगत में ब्रह्म उसे बिना कुछ नहीं ये प्रमेय की संभावना है अब प्रमाण की संभावना प्रमाण तो कहीं कर्मकांड है कहीं भेद कहा गया कहीं अभेद कहा गया कहीं कुछ कहा गया कहीं क्या उपासना करो कहीं क्या कर्म करो ब्रह्म ज्ञान एक अद्वितीय ब्रह्म कैसे होगा प्रमाण असंभावना की निवृत्ति श्रवण से होती है और प्रमेय असंभावना की निवृत्ति मनन से होती है तो श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रया प्रमेय असंभावना निराश भी प्रमाण असंभावना प्रमेय असंभावना निराश श्रवण तब तो पूरा पूरा करते रहना चाहिए प्रमाण असंभावना निवृत्ति हो जाए बहुत लोग हैं हमको तो कोई संशय नहीं क्यों श्रवण मनन करेंगे बड़ा सरल है हमको कोई संशय नहीं संशय क्या पता नहीं है कभी कहेंगे तो मनन करने से संशय निवृत्ति कहे हमको कोई संशय नहीं कि मनन करेंगे कोई संशय है मेरे बड़ा सरल है कोई संशय नहीं संशय पता नहीं संशय क्या है हम ब्रह्म जीव ब्रह्म एक है क्या संशय है बिल्कुल पक्का है निश्चय हो गया और संशय नहीं तो फिर में ब्रह्माकार वृत्ति चले हाँ ब्रह्माकार वृत्ति हम असीम ब्रह्म रट लेते हैं ज्ञान हो गया वो नहीं संशय होना गलत नहीं संशय होना अच्छा है संशय होकर के निवृत्त हो जाए तो आगे संशय नहीं होगा और संशय नहीं उत्पन्न ही नहीं हुआ कभी संशय उत्पन्न होगा तो उसमें कामने लगेंगे थुना निखन न्याय से खांबे को गाड़ने के लिए हिलाते हैं फिर मजबूत करने के लिए पिटते हैं पत्थर पत्थर डाल करके इसलिए शास्त्र में भी ऐसे पूर्व पक्षी शंका करता है सिद्धांत उत्तर देता है शंका करता है समाधान ये सब शास्त्र है वाद कथा जैसे गुरु शिष्य की कथा है वाद कथा शास्त्र भी इस प्रकार है शिष्य पूछता है गुरु उपदेश करते हैं शंका होती है समाधान होता है ये स्थूला निखनन न्याय है जिस खंभा को मिट्टी में गाड़ दिया थोड़ा हिलाया नहीं छोड़ दिया फिर हवा हवा ने पर गिर पड़ा मालूम है खंभा गाड़ो खंभा गाड़ के मिट्टी डाल दिया बड़े खुश होकर चला गया वैसे थोड़ा कोई आया तो हाथ रहेगा गिर पड़ा ऐसा छोड़ दिया कोई मजबूत हो गया ये मजबूत तो नहीं है इसको हिलाओ हिल रहा है तो फिर पत्थर लेकर गाड़ो फिर देखो हिलाओ गाड़ने वाले से करते हैं फिर जब पत्थर पिटेंगे ईट पिट करके सावल से पिटेंगे निचार तरफ फिर हिलाएंगे थोड़ा हिलता और पिटो और पानी डालो पीटो फिर जब नहीं हिलता है कह अभी ठीक हुआ इसी प्रकार स्थूणा ने निखन न्याय निखन न को गाड़ना इसके न्याय से मजबूत करने के लिए श्रवण मनन ये शास्त्र में यही होता है प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर क्या क्या प्रश्न होना चाहिए कैसे संशय होना चाहिए पता नहीं शास्त्र में है संशय होने पर लगता है हाँ बहुत ठीक है फिर समाधान होगा ऐसे कहने से निश्चय होता है तो प्रमाण प्रमेय असंभावना की निवृत्ति श्रवण मनन से ऐसे असंभावना शास्त्र में बहुत शंका है समाधान है शंका समाधान करते करते दृढ़ निश्चय हो जाए जब तक मनन अपने आप शुरू नहीं होता है तब तक श्रवण से प्रमाण संशय निवृत्त नहीं हुआ प्रमाण संशय निवृत्त हो गया तो मनन होना चाहिए और मनन होगा तो मनन संशय प्रमेय संशय नष्ट हो जाएगा तो अपने आप ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ हो जाना चाहिए निधि ध्यान यदि ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होता है तभी संशय निवृत्त नहीं हुआ कह देते संशय नष्ट नहीं ऐसे कोई कहते सीधा ब्रह्माकार वृत्ति करो श्रवण मनन करना क्या जरूरत है ब्रह्माकार वृत्ति करो हम असीम ब्रह्म रटते रहो इसका नाम ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है तो ये दोनों प्रमाण प्रमेय असंभावना निराशेपि केन श्रवण मननाभ्याम श्रवणेन कस्य कस्य निराश प्रमाण असंभावनाया मनन प्रमेय संभावना है निराशे भी चित्त से अनेकाग्रता दोष प्रतिबंधक चित्त में एक अनेकाग्रता विपरीत भावनेयम एकाग्र्या सा निवर्तते पंचदश में आया जो विपरीत भावना है एकाग्रता से उसकी निवृत्ति होती है विपरीत भावनेयम एकाग्र्यास्या निवर्तते तत्वोपदेशात् प्रागेव भवत्येतदुपासनात् तत्वोपदेश के पहले उपासना से होती है एकाग्रता उपासना इसलिए आवश्यक है एकाग्र किंतु जो एकाग्र बहुत एकाग्र नहीं उपासना नहीं किया वेदांत श्रवण कर लिया अभी क्या करेगा श्रवण छोड़कर जाएगा उपासना करने के लिए या क्या करेगा इसलिए कहते प्रागन अभ्यासिन पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद भवेत पहले जो उपासना करते करते उपासना करने का मतलब थोड़ी बहुत उपासना तो सब कर लेते हैं इतने से नहीं है या तो जो सगुण ब्रह्म चिंतन करते हैं उपास्य तन्मय हो जाए सगुण ब्रह्म का दर्शन हो जाए योग अभ्यास करते तो निर्विकल समाधि तक पहुंच जाए तभी उपासना इसको कहते कृत उपास उसको ज्ञान हो जाएगा उपदेश मात्र से और थोड़े उपासना करने के बाद जिज्ञासा हुई वेदांत श्रवण कर लिया अभी एकाग्रता पूरा नहीं हुई अभी क्या करेगा तो श्रवण मनन छोड़ करके उपासना करेगा इसलिए कहा प्राग न पहले जो उपासना करके एकाग्रता जिसकी चित्त में नहीं हुई भवत्येत नहीं ब्रह्माभ्यास न तद भवेत प्राग न पश्चात न ब्रह्मा अभ्यास से हो जाएगा पंचदश में विद्यान समय ने कहा है ब्रह्माभ्यास तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा उसका चिंतन कथन परस्पर शंका समाधान अन्योन्यम तत्प्रबोधनम कभी मिल करके इधर उधर बात करते इधर उधर बात नहीं छोड़ करके इसका चिंतन करे और जिनके विपरीत बुद्धि वाले है इधर उधर बात करें तो बड़े रुचि है वेदांत चिंतन हुआ तो हे क्या करते हो क्या मिलेगा ऐसे छोड़ो प्रपंच चिंतन करे तो रात को दस ग्यारह बजे बारह तक को कोई चिंता नहीं ना नींद लगेगी ना हाँ, सुनेगा अरे वेदांत का होगा तो वेदांत पाठे में नींद लगेगी और अन्य समय चिंतन क्या करना विपरीत है वेदांत चिंत चिंतनम तत्कथनम अन्योनम तत्प्रबोधनम प्रश्न उत्तर करके बताना यही एतदेक परतंच इसको कहते ब्रह्माभ्यास ये निधि ध्यान से करने से विपरीत होने की निवृत्ति होती है तो ये उपाय है तद अपनय उपाय जो एकाग्रता अनेकाग्रता है चित्तस्य अनेकाग्रता दोष प्रतिबंधक संभवति ये प्रतिबंधक है सम असंभावना के निवृत्ति हो जाने पर भी ये असंभावना निवृत्ति होने भी सरल से नहीं है बहुत लोग को मनन क्या है पता नहीं मनन नहीं तो असंभावना निवृत्ति नहीं होगी थोड़ी तर्क की आवश्यकता है युक्तिया संभावित तत्वानुसंधान मनन मनन है युक्ति से न्याय चर्चे ईशश्च मनन व्यपदेश भाग उपासनैव क्रियते श्रवणानंतरागता उदयनाचार्य ने बड़े नायक तो बहुत धुरंधर नायक है बड़े भक्त भी है ज्ञानी है सामान्य नहीं है ओ ईश्वर सिद्धि के लिए न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ की रचना की जो नास्तिक लोग नहीं मानते उनको युक्ति से सिद्ध करने के लिए युक्ति अनुमान से कहते न्याय चर्चा चर्चायम ईशस्य मनन व्यपदेश भाग न्याय चर्चा जो न्याय शास्त्र है ईश्वर के मनन स्थानापन्न है न्याय चर्चा नहीं जाने वाले तो न्याय का खंडन करें नहीं पढ़ो न्याय चर्चा है ईश्वर के मनन स्थानापन्न हमने जिनसे न्याय पढ़ा था उन्होंने वो भी अपने को वेदांति मानते थे कहते न्याय तो हम पढ़ते जैसे पेड़ पौधा कुछ लगाते चार तरफ कांटे का बाड़ लगाते हैं किस लिए जानवर पशु आकर खा लेंगे उसको बचाने के लिए इसी प्रकार न्याय हम पढ़ते हैं विरोधी को विरोधी से बचने के लिए नहीं तो विरोध लोग खंडन करते इधर उधर कहते उनको सामने करने के लिए न्याय पढ़ते हमारे तो वेदांति है जिनसे मैं न्याय पढ़ाता उनसे मैं ही पढ़ाता खंडन कर खाद्य चित्त की नायक है बड़े विद्वान थे वेदांति थे दक्षिणी के बड़े विद्वान थे न्याय पढ़ाते थे किंतु वेदांत में उनकी निष्ठा और बहुत अच्छे वेदांत में तो न्याय चर्चा ईश्वर के मनन स्थानापन्न न्याय थोड़ी आवश्यकता है ये सब उपासना एव क्रियते श्रवणानंतरागत श्रवण के बाद ईश्वर का चिंतन करने के लिए उपासना रूप है ईश्वर के वास्तव स्वरूप चिंतन करना ईश्वर है निश्चय करने के लिए प्रमाण है जिस प्रकार एक मुक्तावली में द्याक्षित्यं कुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत एक अनुमान थोड़ा दिया इसी प्रकार सात अनुमान दिया न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर सिद्धि के लिए प्रमाण ये प्रमाण तो है ही जो लोग श्रुति को नहीं मानते हैं तर्क के आधार पर सिद्ध करते हैं तो ये मनन के लिए कन मनन कन से संशय दूर होता तभी निधिध्यासन होता है श्रवण मनन के बाद भी प्रतिबंधक संभव है उसके लिए निधिध्यासन आवश्यक है ये प्रतिबंधक संभव उसकी उपनय ये प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए आगे योग अनुष्ठान करने के लिए बताते हैं ये शास्त्र में सब कुछ साधन है श्रवण मनन की आवश्यकता क्या है आगे क्या प्रतिबंधक रहता है यहाँ स्पष्ट हुआ श्रवण मनन कितना आवश्यक है ज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन साधन है अत्यंत आवश्यक है ये स्पष्ट होता है फिर आगे प्रतिबंधक विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए योग उपदेश करेंगे ओम